वास्तविकता ये है कि फिर ने जमीन में सिर उठाया और उसके निवासियों को गिरोहों में बांट दिया उनमें से एक गिरोह को वो अपमानित करता था उसके लड़कों को कत्ल करता था और उसकी लड़कियों को जीता रहने देता था वास्तव में वो बिगाड़ पैदा करने वाले लोगों में से था और हम ये इरादा रखते थे कि दया करें उन लोगों पर जो जमीन में अपमानित करके रखे गए थे और उन्हें पेशवा बना दें और उन्हीं को वारिस बनाएं और जमीन में उनको प्रभुत्व प्रदान करें और उनसे फिर और हामान और उनकी सेनाओं को वही कुछ दिखलाएं जिसका उन्हें डर था हमने मूसा की मां को इशारा किया कि इसको दूध पिला फिर जब तुझे उसकी जान का खतरा हो तो उसे दरिया में डाल दे और कुछ डर और चिंता ना कर हम उसे तेरे ही पास ले आएंगे और उसे पैगंबरों में शामिल करेंगे आखिरकार फिरौन के घर वालों ने उसे दरिया से निकाल लिया ताकि वो उनका दुश्मन और उनके लिए दुख का कारण बने निस्संदेह फिर और हामान और उनकी सेनाएं अपने उपायों में बड़े काय भ्रष्ट थे फिरौन की बीवी ने उससे कहा ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है इसे कत्ल न करो आश्चर्य नहीं कि ये हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो या हम इसे बेटा ही बना लें और वे परिणाम से बेखबर थे उधर मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था वो उसका भेद खोल देती अगर हम उसकी ढारस न बंधा देते ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो उसने बच्चे की बहन से कहा इसके पीछे पीछे जा अतएव वो अलग से उसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को इसका पता न चला और हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों की छातियां हराम कर रखी थीं।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 देगा और जब वो मदयन के कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनसे अलग एक और दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं मूसा ने उन औरतों से पूछा तुम्हें क्या परेशानी है उन्होंने कहा हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर न निकाल ले जाएं और हमारे बाप एक बहुत बूढ़े आदमी हैं